तो हम उस संदेह क्रांति के बढ़ जाते इसलिए अर्थ सहित मंत्रों का गायन उच्चारण पाठ करते रहना चाहिए आपके समक्ष है युद्ध का आपने युद्ध करना सीखा या नहीं मुझे पता नहीं जो बार बार आ चुके हैं वर्षों से आते हैं उनको तो युद्ध आ गया होता क्षेत्रों में युद्ध है एक आंध्र एक पहाड़ बाढ़ का युद्ध तो आपको लगभग आता ही है वो तो बिना पूछे जाता है तो आंतरिक युद्ध है व्यक्ति के लिए अनिवार्य और उसके उत्कर्ष का साधन है जो व्यक्ति आंतरिक शत्रुओं को नहीं जानता जो व्यक्ति आंतरिक शत्रुओं के उपाय नहीं समझता और जो व्यक्ति उपाय समझ करके भी शाब्दिक रूप में युद्ध नहीं करता वो सदा पराजित रहता जीत ही नहीं कवि ने बात कही संसार के लोगों सुन लो उसने कहा संसार के अंदर हाथी को कुचलने वाले मारने वाले पता नहीं कितनी संख्या में लोग मर मारने वाले उपलब्ध हो जाएंगे शेर को भी पछाड़ने वाले टुकड़े टुकड़े कर देने वाले संसार में बहुत मिलेंगे और युद्ध में भूमि स्तर पर आहुति देने वाले भी हजारों मिल जाएंगे परंतु उसने संकेत दिया पर काम रूपी शत्रु को मारने वाला दुनिया में कोई करोड़ों में एक आध करता नहीं जीत बाहर नहीं है दीप अंदर यद्यपि पूरी दीप तो हम कहते हैं दोनों क्षेत्रों में परंतु जो व्यक्ति अपने आंतरिक क्षेत्रों को जीत सकता है वही व्यक्ति बाहर के क्षेत्रों को जीत सकता है अंदर कितना युद्ध है कितनी लड़ाई है आप कल्पना नहीं कर सकते मोटी बुद्धि वाले के व्यक्ति के तो दिमाग में ये नहीं आता कि जिनकी मैं सेवा कर रहा हूं जिनका मैं पालन कर रहा हूं जिनसे मैं प्यार करता हूं वही मेरे शत्रु इसलिए गीता में ये बात उठाई गई कि आत्मा ही आत्मा का जो है बंधु है मित्र है आत्मा ही आत्मा का शत्रु है ये क्यों कहा है बस यही कारण है ये आत्मा जब अंदर के शत्रुओं को मार डालता है बाहर फेंक देता है ये अपना मित्र बन जाता है और जब ये बाहर के शत्रुओं को खिलाता खिलाता पालन पोषण करता उसे प्यार करता है जब ये अपना शत्रु बन जाता है आप काम क्रोध लोग मुझे प्यार करते हैं या नहीं आत्मनिक्षण करो एक ही बात है एकाध व्यक्ति न करता हो नहीं तो प्राय काम क्रोध लोग से इतना प्यार करता है व्यक्ति उसको तैयार कर लेता है अपने आप को मारने के इसलिए वेद ने संदेश संदेश दिया फूलू क्रिया ये जो आपके सामने शत्रु गिराए जा रहे हैं अर्थात ये व्यक्ति अविद्या का समर्थन करता है ये व्यक्ति अविद्या की पुष्टि करता है अज्ञान के लिए अपना प्रयास करता है कि मेरा अज्ञान दूर न हो जाएगा एक व्यक्ति को मैंने वैराग्य की बात सुनाई पढ़े लिखे व्यक्ति से वो कह रहे बात तो आपकी बहुत अच्छी लग रही है और मुझे डर इस बात का है कि मुझे जी नहीं है ये माताएं कहती स्वामी जी आपका काम बहुत अच्छा और हम आपको सहायता भी देना चाहते हैं देते है माता बुद्धिमती जी बहुत सहायता देती और सुमित्रा जी ने उनकी बेटी को भी सहायता देती पर माँ के सामने एक बार प्रश्न आखड़ा हुआ कि पांच बेटे हैं एक सब तो वेद के लिए समर्पित कर दो कहने की मैं नहीं कर सकती बस यही शिक्षकों की पंक्ति आगे लग जाती है और ये खिदड़ जाती है पराजय इसकी ऐसे होती है आप ध्यान देना बात तो सूक्ष्म है और उसको मोटा भी बनाया जा सकता है पहले ही कुछ दृष्टांत दिए गए थे कि व्यक्ति अविद्या का समर्थन कैसे करता रहता है इसको व्यक्ति पकड़ नहीं पाता और समर्थन करता ही रहता है ऋषि ने जो शब्दावली लिखी है चार शब्द दिए ऋषि ने अनित्य के स्वरूप बताने के लिए कि ये व्यक्ति अनित्य वस्तुओं को नित्य समझता है और नित्य वस्तुओं को अनित्य समझता है इसका समर्थन करता रहता है दूसरा विभाग उन्होंने कहा कि जो अशुद्ध चीजें हैं उनको ये शुद्ध मानता है और शुद्धों को अशुद्ध मानता है तीसरा समझ विषय भोगों में भयंकर दुख है उसको ये सुख समझता है ईश्वर की भक्ति में जो महान सुख है उसको मैं दुख समझता है शरीर मन इंद्रिया जो ये जड़ है इसको ये चेतन समझता है और आत्मा को चेतन को जड़ समझता है तो ये सारी की सारी बातें इसको बताती हैं कि व्यक्ति अविद्या का समर्थन करता है ऋषि ने नियमों में कहा कि अविद्या का नाश करो और विद्या की वृद्धि करो ये ऋषि ने कहा पर आपने देखा है विद्या का नाश करते हुए किसी को ऋषि ने एक बात कही ऋषियों ने इसके नाश की जो विधि बताई वो करता हुआ देखा कोई अष्टांग योग का पालन करना आचरण करना और वर्णोच्चारण शिक्षा से लेकर अंग उपांग और वेदों को पढ़ना ध्यान देना जब ये दोनों के दोनों प्रयोग होते हैं उस समय व्यक्ति अविद्या का नाश कर सकता है तो नहीं नहीं कर सकता आप बताओ आप में कौन करता है बताओ कोई करता हो फिर से सुनो शब्द शास्त्र संबंध जो है अंग उपांग देश इतना भी पढ़ सकते हैं हम उससे अविद्या का नाश होता है परंतु जब तक यम नेम आसन प्राणायाम ये अष्टांग योग का जो आसन नहीं करता अशुद्धि का नाश नहीं होता और विशुद्ध ज्ञान विज्ञान का विकास कभी भी नहीं होता उसे व्यक्ति क्या वेदों को रख जाए होता ही नहीं तो आपको पता चला कि यह विद्या का नाश कैसे होता है दो बातों को याद कर लोगे ना कम से कम अष्टांग योग का पालन करने से ईश्वर की विशेष उपासना कर, करने से और ऋषिकृत ग्रंथों को वेदों को पढ़ने पढ़ाने से दोनों का समन्वय होता है और फिर व्यक्ति अभी जगन्नाश करता है आपके ध्यान में बैठते हैं आप बताइए आपको मन चेतन दिखता है या जाए उस रूप में देखेंगे वो आपको चेतन ही दिखाई देता है क्यों आप अविद्या में व्यस्त हैं अविद्या के कारण दिखता है अनुमान लगाओ आप उस विषय में विद्वान है या अविद्वान ध्यान देना वस्तु यह है कि व्यक्ति जब उसको चेतन मान से प्रयोग करता है तो निश्चित रूप में अविद्वान है इस शरीर को जब देखता है व्यक्ति इसको सुंदर और पवित्र समझता है वास्तव में है विद्वान विषय भोगों में जो व्यक्ति सुख समझता है चाहे वो कितना ही बनाने का हो वो वस्तुता है विद्वान ये सब ऐसे पता चल जाता है विद्या का स्वरूप इतना नहीं है इसलिए अविद्या का नाश करने में ये साधन जुटते हैं और ये साधन जब जुटाता है व्यक्ति तो निश्चित रूप में अविद्या का नाश कर देता है ये हमारा शरीर है ये विश्व है ये सूर्य चंद्रमा है इसको ऐसे ही देखता है और अनित्य देखने का मतलब ये नहीं है एक बार पाठ कर दिया फिर दिमाग से निकाल दिया याद रखना कैसे सुनिए शरीर आदि सूर्य चंद्रमा को सतत ऐसे देखता है वो व्यक्ति विद्वान है और बीच में जो भूल जाता है वो अविद्वान है कुछ कम समझ वाली होगी बात हां ना बोलो कुछ आई कुछ नहीं है आप मेरे सामने बैठे मैं आपके सामने मैं आपको नाशवान देख रहा हूं अपने को भी तो समझे मैं विद्वान हूं मेरे बात समझ और मैं आप और अपने आप को नाशवान नहीं देख रहे आप तो मैं मूर्ख हूं आप क्या देख रहे हो मुझे तो आपको नाशवान देख रहे हो और ये बैठे बोलो हम बताओ क्या देख रहे हो आप नाशवान दे नीचे याद आ गया आपको इसका दिमाग भी ऐसा काम करता है कि एनएसके को एनएसके देखता है लगातार और अविद्या का नाश करता जाता है और थोड़ा सा असावधान होते ही तो वही का वही पे निश्चित दिखने लगता है अच्छा ये भूमि और सूर्य चंद्रमा को नाजवान दिखते हैं पहले जैसी बात नहीं बोली क्यों ये नाजवान दिखते हैं सच बोलना नहीं दिखते ना <laughs> तो फिर क्या हुआ ये नहीं दिखते नहीं आप जिस दिन आपको ये पता चल जाएगा ये नाशवान है तो अयोध्या का आप अपनी बात नहीं बोलो देखो आप बड़ी में किसी माताओं को दिया हो जाती बोलना नहीं आना अपनी बात निकलो ही निकले है तो अपनी बात करो ही नहीं इसी का नाम अविद्या होगा जितना कुछ नहीं थोड़े होते <laughs> बड़ा सभा अच्छा में बैठने के नियमों को तो याद नहीं करता वो अयोध्या के काम नहीं करता है विद्या ऐसी है ना नाक चाहती है छोड़ती है किसी को कैसे छोड़ती है ध्यान सोते हैं पढ़ते फिर भी सूर्य चंद्रमा जैसे इतने अरबों खरबों लोग लोकांतर हैं ये व्यक्ति के दिमाग में बैठना तो बड़ा कठिन है कि नाजवान बड़े बड़े विद्वान जिनके विद्वान जिनको कहना चाहिए संप्रदाय वो लोग इस सृष्टि को बना बनाया मानते हैं अनाधिकाल से क्या समझते और ये अनंत क्रांतिकियों की बनी रहेगी ये मानते हैं हकीकत विद्वान उस संप्रदाय के तो इसे पता चला वो जेल बहुत बड़ी है क्या क्या पता चला वो <laughs> जेल बहुत बड़ी है छोटी तो सी नहीं है ये सूर्य और चंद्रमा आदि लोक अंतर अरबों अरबों इनकी गणना वैज्ञानिक नहीं कर पाए थक चुके हैं वैज्ञानिक हमने वैज्ञानिक को जो पूछा आगे कहते आगे हमारे पास में कोई यंत्र नहीं है <laughs> ये हम अहमदाबाद के ना वैज्ञानिक उनसे मिलते रहते हैं कितनी खोज की उन्होंने चित्र दिखाई कि सूर्य इतनी दूरी पर है लगभग आठ मिनट में या कितने में प्रकाश यहां आता है उसका इतनी दूरी पर तो सूर्य है और एक सेकंड में तीन लाख गति प्रकाश की ध्यान देना चौदह करोड़ होगा कितने करोड़ और क्या लेकिन तो बहुत छोटा दूरी है मैंने कहा और आगे बताओ कि एक आकाश गंगा में ऐसे ऐसे दस अर्थ सूर्य और चूड़ी का परिवार कल्पना करो एक एक चूड़ी का अपना परिवार ग्रह उपग्रह और सूर्य ये सब परिवार उसे मुझे जानता होता तो दस अरब हो गए मैं और आगे बताओ क्योंकि ऐसे ऐसे दस अरब आकाश गंगा खोज जाएगी मुर्गा आगे बताओ आगे हमारे पास में अंतर नहीं है कोई सीमा नहीं आप ध्यान देना ये नाचवान है क्या नहीं नाचवान है तो ये व्यक्ति के दिमाग में बात नहीं चलती पर याद रखो जब तक व्यक्ति इसको ऐसे से नहीं देखता तब तक उसकी समाधि नहीं लगती बताओ क्या करो नहीं जब तक व्यक्ति इसको ऐसे नहीं देखता समाधि नहीं लगती आपको बहुत बार सिखाते हैं और पुस्तक में भी लिखा गया तो उसमें ये बतलाया गया जो वृत्ति निरोध होता है समाधि लगती है उसमें आवश्यक बात है कि अनित्य वस्तुओं को अनित्य देखता है और वो व्यक्ति विचार में करता करता आगे बढ़ता है जो तो सारी चीजों को प्रलयवत बना देता है जब ये संसार नहीं बना था जो स्थिति ऐसी होती है वैसा इसके दिमाग में आती है और ये जो शरीरों की आकृति सूर्य की आकृति पृथ्वी की आकृतियां जितनी भी हैं वो इस स्तर पर वही उन प्रलय को पहुंचा देता है ऐसे को जाने जैसे हम व्यायाम नहीं कर रहे और ऐसा परिणाम देखो इसका कल्पना नहीं है आप जिस समय भी ये नृत्य को नृत्य करेंगे तब इसमें समाधि आरंभ हो जाएगी करके देख लो इसी शरीर में बैठे हुए हम विचार करते जाते हैं और स्वयं ऊहा नहीं आती तो ऋषियों की सहायता लेते हैं कैसे ये शरीर नष्ट हो जाएगा और पांच तत्वों में मिल जाएगा ध्यान दें और पांच तत्व भी नष्ट हो जाएंगे तन मात्राओं में लीन होंगे सर्वात्रा इंद्रिया भी मिट जाएंगी अहंकार में लीन हो जाएंगी अहंकार भी मिट जाएगा मतत्व में लीन हो जाएगा मतत्व भी मिट जाएगा तो सत्व में लीन हो जाएगा वो जो अवस्था पर बैठी है उस व्यक्ति ने वो पदा प्रति भौतिक कर जब संसार नहीं था उसको देखने लगा जो संसार नहीं रहेगा उसको देखने लगा दो इसको यूं कहना चाहिए दोनों प्रलयों को लाके वर्तमान में ऐसे खड़े कर देता है और ये वर्तमान वर्तमान जो है इसका कचूमर निकल जाता है और जैसे इसका कचूमर निकलता है योग शिष्यवृत्ति में रोजा आरम्भ हो जाता है अब बताओ ये क्या मुश्किल कर पाते है कर लोगे तो बड़ी मुश्किल है आप ये कहते हैं कि ऐसा जादू सा बता दें हमने जादू सा तो बता दिया इतनी जल्दी से आगे जगह बता दिया अब पूरी होगी अब से तो पढ़ रहे थे ये शहर एक अनुशासनम ये पूरा मेरे विद्या का अनुशासन पूरा हो गया कोई लोग ये समझते हैं शब्दों को हमने समझा हम दर्शन को समझ गए ऐसा नहीं है इतने से तो शब्द शास्त्र का पता चला ईश्वर ऋषियों ने कहा आगम काल है स्वाध्याय काल है प्रवचन काल है और व्यवहार काल ये चारों काम ये पूरे होते हैं तो विद्या का स्वरूप सामने आता है और अविद्या उखड़ के दूर हट जाती नहीं तो नहीं आती आत्म दर्शन में पढ़ा अनित्य असुखी दुख सुख नित्य सुखी क्या किया व्यक्ति आप उसको श्रवण और आगे बढ़ाते चले जाइए और फिर ये का ये संसार उसके दिमाग में अनित्य दिखने लगा अनित्य जब कैसे दिखने लगता है योग चित्रवृत्ति में होकर निश्चित में हो जाता हम थोड़ा सा आगे बढ़े अगले शब्दों को भी देख लेना ये तो थोड़ा सा एक बात चाहिए उर्दू के याद हम तो <laughs> है और आगे क्या है भेड़िए की बात की और आगे क्या थी दूसरे की बात की तो लंबी व्याख्या होनी कठिन है तो कुत्ते का एक दोस्त दिखा दिया था अपनी जाति के बहुत लगता और एक कृतज्ञता की व्यक्ति अभिव्यक्ति अति करता है जो व्यक्ति कृतज्ञता की व्यक्ति अति करता है वो खराब व्यक्ति होता है क्या समझे आप थोड़ा सा टुकड़ा डाल दो बेचारे के सामने खाएगा फिर लेट जाएगा उसके सामने उस व्यक्ति की जरूरत है व्यक्ति करता है दिन भर नहीं समझे आप अतीत करता है ना तो ये अति जो है इसको हम सूर्य शासन क्या बोलते चापलूसी अति अति चापलूसी करता है तो व्यक्ति जो अति चापलूसी करता है अच्छा व्यक्ति नहीं होता आगे क्या है को ये पक्षियों का दृष्टांत दे देंगे जड़ा जिड़िया की आदत बताई उसने कि अति ये कामी विष्णी होते ये शत्रु है व्यक्ति का कहते कि इसकी जो आदत है भयंकर काम से उतर प्रोत रहता है ये पक्षी तो इसकी आदत को छोड़ दे मान लीजिए ये प्रेम से नहीं जाती ये चीजें आप कभी देख रहे हैं और न ये भुगने की जाती न ये प्रेम की जाती संधि कोई व्यक्ति से करता रहे कहीं मैं इनको मारूंगा ये नहीं हो सकता इनको तो बिना ही की मार डालो कुछ डालो वेद ने कहा कि विषता इव पत्थर से जैसे किसी चीज को कुचल देते हो ऐसे कुचलो पर आप सरकता लेके नरक रख दीजा मैं जी मैं अपने काम को रख रहा हूं <laughs> ऐसे नहीं रखा जाएगा ये ये समाधि से रगड़ा जाएगा सत्संग से रगड़ा जाएगा ये जमनियन से रगड़ा जाएगा कभी आप लोग बच्चे खुल मुसल ले लो क्या मैं काम को रगड़ रहे हैं मार रहे हैं इसके रगड़ने के अपने साधन है ये आप सब बार बार सुनते हो बार बार यहां आते हो ये तो साधन है बार बार सुनो बार बार मार मारो इनके ऊपर फिर प्राश्चित करो दंड लो ये सारा फिर समाधि लगाओ देर तक बैठो जब मन में बुराई आए उसको आने नहीं देना आ जाए तो उसके साथ टक्कर लेना खूब टक्कर टक्कर नहीं पड़ती है एक दिन एक युवक नाम की घटना सुना दी आपके साथ ये होता होगा कि युवक की बात नहीं करती वो दिग्न उन्होंने कहा एक दिन की घटना आई है एक सुंदर लड़की थी वो अच्छी दिखाई थी कोई सुंदर रूप अच्छा दिखता व्यक्ति को और मैंने उसकी ओर देखा तो अच्छी देखी वो और फिर मैंने मुंह फेंक दिया जैसे और फिर उसके लेके फिर मेरे मन में आया कि इसको दोबारा दे देना तो चाहिए फिर फिर नहीं भाई दोबारा नहीं देखना चाहिए ऐसा है कि देखना अच्छा नहीं है अब तो ठीक विचार है देखने से विचार क्या करते नहीं नहीं देखना अच्छा है बेटा नहीं देखना बेटा नहीं देखना अच्छा लड़ाई होते होते होते कहकर देख लेना अच्छा वो देखने लग गया <laughs> ये आदत आपकी है कोई जीव की तो एक बात मात्र है नहीं है क्या आपकी मन में देखना केंद्र करके ऐसा ही ऐसा ही मिलेगा कई बार होता ही है कि उपदेश देने वाला सोचता है मैं जो बोल रहा हूं अगले के लिए बोल रहा हूं मेरा कोई लेना देना नहीं इस उपदेश से और सुनने वाले ये सोचते स्वामी जी और के लिए जो तो आए तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है ये जो तो व्यक्ति ना तो बोलने वाला बदलता ना ये सुनने वाले बदलता वैसे मैं इसका विरोधी हूं मेरी लड़ाई गलती से चल रही मैं ये दोनों खड़ा रहता हूं आपको देखता नहीं लगता और आपको भी सहायता देता हूं लड़ाई करने मात्र मेरी बात सुनते हैं आपको लड़ाई करने में सहयोग्यता रहता हूं और मैं अपनी लड़ाई करता रहता हूं आपको दिखाई नहीं देता मैं लड़ाई करता मैं देता हूं ये तो शरीर दिखाई देता अंदर जैसे युद्ध हो रहा है कैसे मैं नियंत्रण करता हूं मन के ऊपर कैसे मैं अपने मन को विचारों से रोकता हूं वो वो लड़ाई आप नहीं जान नहीं जानते ठीक है डॉक्टर अब हम यहां तक पहुंचे अब समय सब बोला नहीं तो आप जो है सारी बातें बतानी कहे हैं अब सुपरली आसन है ना ऐसा माना जाता है व्याख्याकारों के मत में जो गुरु जो पक्षी होता है वो बहुत अभिमानी होता है गुरु हो दूसरा हो यहां अभिमान का लेना हमारे लिए अभिप्रेत है अभिमान भयंकर शत्रु है व्यक्ति का वो जो है शत्रु है उसको मारा जाना चाहिए ये निश्चित बात है जिस प्रकार अभिमान रहता है कि परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता और भी आगे बढ़ जाओ अरे इन सारी का पालन नहीं कर पाता व्यक्ति है शक्ति नहीं रहती व्यक्ति इतनी इकट्ठा करो और आगे क्या है जीव देखी आपने कहां घूमती है वो आकाश कैसे चक्कर काटती है चक्कर काटती काटती इतनी दूरी चली जाती है तो उसको चिड़िया जैसी दिखाई देती है इतनी दूर पहुंचती इतनी बड़ी है और वहां से देखती है और पशु कब मरेगा ये कहां मरा हुआ है वहीं से घूम पशु पर टूट पड़ती है लोग भयंकर शत्रु हमारा लोग ये विष्णु की ओर जो खेती वाला ये लोग ही है सुख मिलेगा सुख मिलेगा सुख मिलेगा सुख मिलेगा बस इसके पीछे पड़ा रहेगा हाँ, माता जी कहते तो माता बीच में खाया है कहते जी नहीं जी मेरा खाए बिना काम नहीं था भूख लगी है और भूख खा रही है वो तो जीवा कर रहे क्यों लोग क्या है लोग इस बात का है कि बड़ा बताएगा बड़ा शादी लगेगा <laughs> बात खाने में इतनी है लोग के ऊपर अधिक बात है एक लोक व्यक्ति की कथा सुनाई बीच में रोते रहेगी वो गिनी और तीसरा गिनी उसके पास थी बहुत सी गिनिया थी पहले जो आज से पचास वर्ष पहले अंग्रेजों का राज्य था ना उस समय गिन्नियां होती थी एक गिन्नी के पंद्रह रुपये होते थे चांदी के शुद्ध चांदी और कथा सुनाई चाहे वो कथा वैसी भी बना ली हो रहे होता है लोग व्यक्ति का वो एक बूट आदत था ही और बेचारे के पास गिरनी थी और पुत्र पुत्र को दूर ताक मरे थे तो कि पिताजी कम से कम मरेंगे तब तो हमारे पास ही आएंगे ना ऐसी तो बात हो नहीं सकती वो खूब सेवा करते थे खूब खिलाते खूब खिलाते आप भी ऐसा देखते होंगे जिसके पास धन नहीं उसको कोई पूछने वाला नहीं देखता एक दिन बताया गया उनका बेचारा रोगी था उस दिन उसके मन में संदेह हुआ कि आज मैं मरने जाऊं और उसमें वो बनाया था हनुमान जी राम उन्होंने सोचा कि मर गया तो जिन है तो यहीं रहेंगी तो हीरे के साथ चले गया तो वो मर भी गया फिर तो मर गया तो क्या क्या तो वो पुत्र पुत्र को तू घर दौड़ इधर दौड़ नीच थे ऊपर कहीं भी तो नहीं जहां था संसार घूमे जाके देखा वहां मिली तो आप कुछ देना देना हो दे जाओ अभी पता नहीं कहाँ क्या करोगे घर एक इकट्ठा हो जाएगी काम को भूकंप आएगा है अभी सोचते रहो कि मैं ये दो भी व्यक्ति न तो वो देता है ना खाता है हाँ फट जाएगा कई बार हमको लोग दान देते हैं तो फटा हुआ लोग मिलता है वो वो ढिला करके ढिला ढिला के बैंक में नहीं जाना पड़ेगा दान का दान हो जाएगा बैंक में नहीं जाना पड़ेगा दो भी व्यक्ति का बहुत खराब अगर बताओ आप मुझे दो भी कौन कौन है सारे ही हैं मतलब तो यही तो भेद ने बात कही कि तो मार ये दुष्टों के साथ जिंदगी कुछ नहीं करते ये है अंदर के शत्रु तो याद रखो ये अंदर के शत्रु हैं बाहर के शत्रु भी बहुत अधिक यहाँ आप खाली नहीं ये लाठी क्यों रख रखी है यहां <laughs> ये केवल शौक के लिए नहीं है ये लाठी है कहीं तो मतलब ये लाठी बूढ़ों के लिए बूढ़ों से नहीं चला जाता ये लाठी निकली ये अपनी रक्षा के लिए ही है क्या समझे आप और कभी दुष्ट व्यक्ति आक्रमण करे तो कम से कम अपनी रक्षा भी करो और उनको मार भी सकते हो और इनके पास में एक डंडा भी नेता करो में ये रिविजन होते एक जैसी डंडा लाठी तलवार बाला कुछ तो रखना के लिए एक व्यक्ति आ रहा है भेड़ की तरह सारी इकट्ठी हो गई कौन हम रख जाएंगे हम कहते लाठी रखो कुछ अस्त्र शस्त्र रखो कुछ रक्षा की साधन रखो जिस व्यक्ति के हाथ में लाठी होती है तो वो डरता नहीं शेर देगी मार ले जाए शेर उसको एक दिन मैं लाठी लेके चला दो में हुए विदेशी स्थान बड़ा लंबा चौड़ा फूका मुझे पता नहीं था मारने वाला है और मैं से बात होकर बस अकड़ के खड़ा हो गया क्या किए वैसे नहीं होगा बस उधर तैयारी जैसे की तो मैंने सोचा ये तो मारेगा मेरा भी धंधा बेचाओ ने जब बच्चों को बिठाता हूं उसको लेकर तो उसके मैंने नाश करवाया ये फिर वो पीछे करके हाँ, इतना जोर से आया टक्कर मारने के लिए इतने वो ऊंचाई पर चढ़ गया ताकि उसकी मिट्टी पर उतारी थी ना मैं उतारी पर बोली है एक दिन हमारे के नाम पर <laughs> वो छोटी से चला उसे चला गया अब नहीं तो वो मुझे ही मार देता वो तो ये है मेरा मतलब हमें पैर की चीजें नहीं पर कोई मारेगा हमको सताएगा तो रक्षा तो कर गया नहीं क्यों जी बोलो तैयार हो ना है जी हाँ तो अहिंसा की रक्षा हमने सुन ली होगी और सुन लेना हिंसा को रोकना भी अहिंसा है अब आपको कोई हमारे में लग जाए खूब मराठी हराम को रोके या नहीं रोके हम तो नहीं अहिंसा का पालन नहीं होगा ये रोको मर्जी को नहीं दो इनको ये कोई व्याख्या है इसकी हम कहेंगे मारो इनको मारो क्योंकि हम तो तुमको रोकेंगे लेकिन नहीं हिंसा ये मारेंगे सुनो सुनो होता है याद रखो ये बाहर के शत्रु इतने अधिक हैं जैसे अंदर के बताए संप्रदाय के रूप में है राजनीति के रूप में है देश में है और विदेश में है तैयार हो जाओ बलिदान के लिए संरक्षित होकर के अन्य था जैसे अंदर के शत्रु मारते हैं ऐसे बाहर के शत्रु न वेदों को छोड़ेंगे न वैदिक संस्कृति को छोड़ेंगे न कोई भी चीज हमारी जो परंपराएं को समाप्त करेंगे और हमें भी आज सुसंगठित होते हैं और हमारे अंदर शक्ति है सामर्थ्य है साधन है हम एक हैं हमारा लक्ष्य है तो अंदर के शत्रुओं को भी मारेंगे और बार वाले को भी पर बिना बलिदान के संगठन के बिना ये काम हो जाएगा दोनों ही कमजोर अकेला व्यक्ति अंदर के शत्रुओं को नहीं जीत सकता होगा सत्संग स्वाध्याय ईश्वर की उपासना बताने की कितने साधन बताने पड़ते और बाहर के शत्रु को भी नहीं हटाया जा सकता नहीं हटा इसलिए हमको दोनों क्षेत्रों के शत्रुओं को समाप्त करना हम इंद्र हैं इंद्र है ना इंद्र क्या कहा ऋण विषदा इव प्रण लेना है रक्ष इंद्र ये जीवात्मा तुम इनको राक्षसों को दुष्ट देखने को खत्म कर और हमें बाहर के शत्रुओं जमे हमें भाव नहीं है हम तो ये कहते हैं कि अन्याय क्यों फैलता है अन्याय की आगे क्यों बढ़ती सबके लिए दुख का कारण बनी हुई और हम बैठे हुए देखते रहे हमें रानी मानते इसलिए ने कहा कि अन्यायकारी राजा भी क्यों ना हो चक्रवर्ती राजा क्यों ना हो सभी विरोध करो लिखाया नहीं सहित कर्म की राजा चुनाव अन्यायकारी उसका अप्रिय आचरण करो उसकी अवनति करो उसका जो कुछ हो सके उसका नाश करने में लग जाओ पर वैर भाव से कुछ नहीं कर दिया देखिए भगवान के मनु बेटी मनु मई मनु के माध्यम से करेंगे अन्याय का विरोध करना हमने किसी चीजें नहीं करना ये संतुलित जीवन है स्वामी दयानंद सरस्वती ने ये बात की उनको किसी संप्रदाय से कोई भाव बिल्कुल नहीं किसी राजनीति वाले से भाव नहीं किसी विदेशी से भाव नहीं अन्याय अज्ञान अधर्म से उसका भाव वो उसको नहीं छोड़ना चाह रहे ये संतुलित जीवन हमको सीखना पड़ेगा अब इसको यहीं पर विराम देना